राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक ज्ञान के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मिलजुल कर हाँ हाँ आ, तुम भी आओ हाँ देखो ध्यान से ध्यान से चढ़ना बस में बिल्कुल आराम से कोई गिरे नहीं हाँ अच्छा बैठ जाओ सब बच्चे बैठ जाओ बैठो शाबाश अच्छा दीपा सभी बच्चे आ गए जी जी जी जी अच्छा तो अब तुम लोग अपना अपना सामान भी ध्यान से देख लो कि बस में रख लिया है ना रख लिया दीदी सुमन तुमने रख लिया मैंने रख लिया दीदी अच्छा तुम्हें पता है ना हम आज कहाँ जा रहे हैं हाँ पता हाँ, है आज हम गांव से दूर फलों का बाग देखने जा रहे हैं हाँ तो चले बाग देखने जी दीदी <laughs> चलो <laughs> पराठा अचार और हलवा और तुम क्या लाई हो <laughs> खीर पूड़ी और आलू की सब्जी तुम लोगों की बातें सुनकर तो मुंह में पानी आ रहा है आ, आ, आ, लो ये बिस्कुट खाओ <laughs> वाह बिस्कुट लो सुमन तुम भी लो दीपा तुम लो ना हाँ, हाँ, हाँ, राजेश तुम भी लो <laughs> दीदी आप भी लीजिए ना हम्म, हम्म, लाओ हम्म। लेकिन रमेश क्या तुम केवल बिस्कुट ही लाए हो नहीं पर अभी क्यों बताऊं? उसी समय देखना <laughs> तुम तो आज बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाए हो जी खूब मजे से खाओगे <laughs> पर एक बात है अगर तुम में से कोई अपना खाने का डिब्बा घर भूलाए है तो फिर क्या करोगे जरा बताओ तो कोई बात नहीं दीदी हम उसे अपना खाना खिलाएंगे हाँ कभी कभी स्कूल में जब मैं खाने का डिब्बा लाना भूल जाती हूँ तो मेरी सहेलियाँ मुझे अपना खाना खिलाती हैं। हम्म। हाँ मैं भी अपना खाना सबके साथ बांट के खाती हूँ मेरी दादी कहती है हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बहुत अच्छी बात है शाबाश अच्छा चलो अब कोई खेल खेलते हैं हाँ, हाँ, हाँ खेल, खेल, खेल, हाँ। मैं एक पहेली पूछूं पूछो पूछो एक थाल मोतियों से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे एक थाल मोतियों से भरा हम्म। आसमान और तारे ये तो मुझे पहले से पता है कोई और पहेली पूछो अब चलो मैं पूछती हूँ ये दोनों हैं सगे भाई दोनों ना करते कभी लड़ाई एक कहीं यदि खो जाता दूजा कभी काम ना आता दोनों भाई हैं कभी लड़ाई नहीं करते आ, क्या हो सकता है एक बात है ये पहनने के काम आता है पहनने के काम आता है हम्म, सोचो सोचो आ, हम्म। एक कहीं यदि खो जाता दूजा कभी ना काम आता हम्म। हाँ अब समझ में आया ये तो जूता है <laughs> अच्छा बच्चों अब एक पहेली मैं भी पूछती हूँ जी दीदी पूछिए मुझे हम्म, कौन जवाब देगा हाँ, मैं दीदी तुम दोगी हाँ, अच्छा चलो तुम भी देना बाकी सब भी कोशिश करना एक पंछी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा बादल देखे छमा छम नाचे अलबेला मस्ताना ये तो मोर है बिल्कुल ठीक भाई वाह खूब मजा आया ना इन पहेलियों का हल ढूंढने में हमने मिलजुल कर सभी पहेलियों का उत्तर ढूंढ निकाला हाँ दीदी बहुत अच्छा लगा आ, दीदी अभी हम कितनी देर में पहुँचेंगे बस अब पहुँच ही गए समझो हम्म। देखो बच्चों अब बस से उतरोगे तो ध्यान से उतरना लाइन बना लो एक के पीछे एक आना देखो ध्यान से हाँ बिल्कुल हाँ जो जो आगे निकल गए हैं वो उधर जाकर खड़े हो जाएंगे रमेश ध्यान रखना तो राजेश को अपने साथ रखो हाँ, हाँ, सुमन तुम इधर आओ और बच्चों के साथ खेलो चलो हाँ। क्या खेलोगे अब पकड़ा दीदी पकड़ा पकड़ाई लेकिन देखो कोई गिरे नहीं ध्यान से बिल्कुल ध्यान से चोट नहीं लगनी चाहिए अच्छा, रमेश देखो मैंने तितली पकड़ी छोड़ दो छोड़ दो नहीं तो मर जाएगी नहीं मरेगी मर जाएगी तो दूसरी पकड़ लूंगा नहीं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए अच्छा लो मैंने छोड़ दी देखो वो कैसे उड़ती जा रही है कितने सुंदर पंख हैं इसके <laughs> अब बहुत खेल लिया अब तो बड़ी जोर से भूख लगी है सबको बुला लेते हैं वो देखो सामने दीदी भी आ रही है हाँ। चलो बच्चों अब खाने का समय हो गया हम्म। सब अपना अपना खाना निकालो <laughs> बाद में खेलना आप है जी दीदी पहले हाथ मुंह धो उसके बाद खाना खाओ जी ठीक हाँ बच्चों यहाँ ये हाँ। गोल धारा बना के बैठ जाओ अच्छा हम्म। और देखो नहीं नहीं ऐसे नहीं आराम से बैठो आराम से हाँ सबको जगह मिलनी चाहिए ना अपना अपना डिब्बा अपने अपने सामने रख लो शाबाश दीपा जल्दी जल्दी खाना निकालो ना लो निकाल लिया दीदी को तो बुला ली दीदी आइए खाना खाएं हाँ हाँ आती हूँ मैं अपना खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ फिर साथ साथ बैठकर खाएंगे जी जी जी आहा आलू के पराठे खाकर तो मजा आ जाएगा दीपा देखो तो वो रमा पेड़ के नीचे उदास क्यों बैठी है खाना क्यों नहीं खा रही अरे हाँ चलो उसे बुलाते हैं हाँ हाँ, हाँ चलो चलो चलो उदास क्यों बैठी है चलो हाँ, हमारे चलो ना चलो चलो हाँ, हाँ चलो हाँ सब खाना खा रहे हैं क्या बात है रमा तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हाँ बताओ ना रमा क्या बात है अरे सुमन ये तो रो रही है रमा बताओ तो क्या बात है किसी ने कुछ कहा है नहीं तो बताओ ना रमा तुम्हारा खाना कहाँ है मैं मैं खाना नहीं लाई तो इसमें रोने की क्या बात है हम तो लाए हैं हाँ और क्या आओ तुम हमारे साथ खाना खा लो नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्यों नहीं खाओगी क्या बात है रात को अम्मा को बहुत तेज बुखार था इसलिए आज खाना नहीं बना पाई मेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी न जाने अभी अम्मा का बुखार उतरा होगा या नहीं अरे ठीक हो जाएंगी अगर तुम बिना खाए जाओगी तो उन्हें और भी दुख होगा अब आंसू पूछो और आओ हमारे साथ मिलकर खाना खाओ चलो हंसो चलो हंसो हंसो हंसो हंसो हंसो शाबाश तुमने तो रमा को हंसा ही दिया अच्छा चलो अब खाना खा लेते हैं आओ अपना अपना डिब्बा खोलो चलो हाँ मैं भी लेती हूँ देखो मैं चने लेकर आई हूँ दीदी आज तो बहुत मजा आया हाँ। हमने आज बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया हम्म। और रमा को भी खिलाया हाँ। और खेल कर तो बहुत मजा आ गया <laughs> इसीलिए तो तुम सब आज बहुत खुश हो है ना <laughs> हाँ दीदी यहाँ से वापस जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है वापस तो जाना ही पड़ेगा है ना तो चलो अब चलने की तैयारी करते हैं जी, जी, आ, ऐसा करो सभी अपना अपना सामान बस में रखो जी, हम्म? शाबाश ध्यान से जितने ध्यान से आए थे ना उतने ही ध्यान से बस में आप बैठना अब चलते हैं फिर दोबारा कभी आएंगे हाँ? <laughs> आ जाओ ध्यान से आओ शाबाश लाइन बनाकर आ जाओ एक एक करके आओ शाबाश हाँ, हाँ, तो आराम से ध्यान से बैठ गया ना हाँ शाबाश देखो कोई गिरे नहीं अपनी सीट से <laughs> अच्छा ध्यान रखना कोई भी खिड़की से बाहर सर निकाल कर नहीं झांकेगा और कोई भी अपना हाथ भी बाहर नहीं निकालेगा ठीक अंदर करो सुमन अपना हाथ अंदर करो हाँ शाबाश अच्छा चलो अब चले हम्म। रमा मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं जी दीदी रमा तुम खिड़की के बाहर देखते हुए क्या सोच रही हो आ, बहुत देर से चुप हो कुछ नहीं दीदी मुझे भी तो बताओ क्या बात है आ, दीदी मैं सोच रही थी कि घर जाकर अम्मा को बताऊंगी तो वो कितनी खुश होंगी क्या बताओगी दीदी मैं अम्मा को बताऊंगी कि आज मैं खाना नहीं लेके गई थी फिर भी मुझे दोस्तों ने आज खाना खिलाया हाँ वो तो मैं देख रही थी आज हम लोग खूब खेले बहुत मजा आया <laughs> हाँ, ये बात तो है आज तो तुम लोगों को खूब अच्छा लगा <laughs> तुमने आपस में मिलजुल कर खाना खाया एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेले है ना <laughs> दीदी हम फिर कब आएंगे घूमने के लिए आएंगे जल्दी आएंगे और जरूर आएंगे मिलजुल कर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परियोजना निर्देशन एवं विषय संयोजन डॉक्टर स्वर्णा गुप्ता आलेख क्षमा शर्मा कलाकार सुचित्रा गुप्ता प्रिया पल्लवी पायल प्रतिमा तथा रश्मि ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन